सारे जगत के लोग मिलकर अन्याय करें तो आपका अहित नहीं हो सकता है और आप अपने साथ अन्याय करते हैं तो सारे जगत के लोग मिलकर आपका हित नहीं कर सकते अपने साथ अन्याय क्या है कि जो अपना स्वभाव है उसको दबाना ये अपने साथ अन्याय है और पर स्वभाव में अपने को उलझा देना ही अपने साथ अन्याय है तो अपना स्वभाव है सत चित आनंद और पर स्वभाव है असत जड़ दुख रूप तो असत जड़ दुख रूप वस्तुओं में अपने को जोड़ देना और उनके साथ एकाकार हो जाना ये अपने साथ अन्याय हो गया फिर एम ए कर लो पीएचडी कर लो डिलीट कर लो फैलाना कर लो लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा राज्य पालो प्रधानमंत्री पद पालो इंद्र पद पालो कुबेर पद पालो दुखों का अंत नहीं होगा कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं अपनी असलियत का ज्ञान नहीं जैसे शिव जी को कोई दुख नहीं दे सकता पार्वती जी गई मायके महिलाओं को जरा मेरे जीजा जी आएंगे मेरी बहनें आएंगी यज्ञ होगा इतने लोग आएंगे मुझे मिलना है उनसे शिव जी ने बताया कि तुम्हारे ये जाने योग्य जगह नहीं है ये राग द्वेष भड़काने वाला ऐसा ऐसा है तो पार्वती जी गई तो क्या हुआ शिव जी को दुख हुआ नहीं शिव जी अपने निर्दुख स्वभाव में आ गए शंकर सहज स्वरूप संभारा शिव जी ने अपने स्वरूप का स्मरण कर लिया जो सत चित्त आनंद मैं पहले था अभी हूँ बाद में रहूँ ये विवाह और पति पत्नी का संबंध पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा जो नहीं रहेगा उसमें और जो रहेगा उसी में आएगा शिव जी तो शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपार वहाँ सती जी को पश्चाताप हुआ और शिव जी की इतनी महानता और मैं ऐसी हूँ तो योगाग्नि से अपने शरीर को अर्पण करके फिर दूसरी जगह जन्म लिया और पर्वतराज पर्वतीय इलाकों के राजा के यहाँ जन्मी और फिर विवाह हो गया पार्वती जी कहलाई सती जी तो शंकर सहज स्वरूप संभारा ऐसे आपको भी जब संसार की परिस्थितियाँ डगुमगु करे तो आपको अपने सहज स्वरूप का ज्ञान पालो और उससे एक हो जाओ तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उज्जैन के ब्राह्मण का सब कुछ लुट गया सन्यासी हो गया और भिक्षा मांग के खाता तो विरोधी भिक्षा न मिले ऐसा प्रचार करते थे और कहीं से टुकड़ा मिल गया और जाकर नदी किनारे खाते तो वहाँ भी आकर विक्षेप करते अधोवायु छोड़ते लेकिन ब्राह्मण समझता था कि ये सब शरीर से हो रहा है प्रारंभ से हो रहा है मुझ चैतन्य का कुछ नहीं बिगड़ता सत्संग की बात पकड़ ली उस ब्राह्मण पर श्री कृष्ण इतने मुग्ध हो गए कि औद्धव को उस ब्राह्मण की कथा सुनाई कि तुम उसी की दृष्टि का आश्रय लो भागवत में आता है अपने साथ अन्याय ना करो अपनी समझ का आदर करो अपनी सच्ची समझ मिलेगी सत्संग से वैदिक ज्ञान से और अपनी उल्टी समझ मिलती है बाहर के जगत से तू मोहन है तू टुन्नू है तू मुन्नू है तू फलाना है तू ब्राह्मण है तू अग्रवाल है तू पंजाबी है बिल्कुल ये कल्पना ही है वास्तव में ये शरीर के साथ मायावी खिलवाड़ है तू तो परमात्मा का सत्य है चित्त है आनंद है शरीर बदले बचपन बदले तू अबदल आत्मा है तो ऐसा चिंतन का मैं अबदल आत्मा का हूँ चैतन्य परमात्मा का हूँ सुख स्वरूप ऐसे करके थोड़ा शांत में बैठने का अभ्यास करो भगवान कहते हैं अभ्यास योग न चेतसा नान्य ना अभ्यास योग से ऐसे एकाकार हो जाओ कि अपनी चेतना अन्य गामिनी ना हो अन्य अन्य व्यवहार तो हो अन्य अन्य दिखे अन्य अन्य सब हो लेकिन उसके मूल में अनन्य का महत्व रखो ट्यूबलाइट अन्य है बल्ब अन्य है पंखा अन्य फ्रिज अन्य है लेकिन विद्युत तत्व अनन्य है फल अन्य अन्य है लेकिन सूरज पृथ्वी और जल अनन्य है एक ही प्रकार का पांच भूत ऐसे ही एक ही सच्चिदानंद की चेतना से मन के स्फुरने अनेक और मन के फुरने के द्वारा आंख देखती है तो आंख के देखने के विषय अनेक लेकिन देखने वाली आंख एक कान के सुनने के शब्द अनेक कान सुनने वाला एक जीव के चखने के कितने अनेक एक ऐसे नाक एक सुगंधियां अनेक तो ये एक एक की अनेक है और अनेक फिर एक में आते और ये पांचों फिर एक मन में आते और मन की अनेक वृत्तियां भी फिर एक मति में आते और मति के अनेक निर्णय भी मति दाता में एक सत्ता में आते हैं एक पेड़ से कितनी शाखाएं प्रशाखाएं प्रशाखाएं प्रशाखाएं तो दिन भर एक में से अनेक में बह जाता है फिर अनेक में से मुड़कर रोज एक में आते हैं रोज भगवान का दर्शन करते हैं हम लोग लेकिन पता नहीं कि यही भगवत सत्ता है मेरे गुरु जी बड़े बड़ी उदारता से खुलेआम साधारण आदमियों को भी ऐसा ब्रह्म रस परोस देते हैं कि वो भले हजम ना भी करे तो सुनने का पुण्य तो होगा उनको मेरे गुरुदेव कहते हैं लीलाशाह भगवान की कसम खा के बोलते हैं कि वो तो अपने को एक वचन में बोलते थे मैं कैसे बोल सकता तो आप सभी लोग भगवान का दर्शन करते तो लोग देखते ही रह जाते आप रोज भगवान से मिलते भगवान की कसम खा के बोलता हूँ ऐसा बोलते इतनी अनुभव की छुई हुई वाणी अगर सदपात्र हो तो उसको लगे कि कुर्बान जाए ऐसे महापुरुष की कृपा की भरी नजर भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ कि आप रोज भगवान से मिलते लेकिन पता नहीं कि यही है रोज सुख स्वरूप से मिलते हैं तो गलती ये होती है मैं ये हूं और मुझे भगवान मिले तो भगवान नहीं मिलेंगे आपका मैं उसमें मिल जाएगा तब भगवान बिछड़ेंगे नहीं भगवान से एक हुए बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता और संसार से पृथक हुए बिना संसार का ज्ञान नहीं होता तो संसार का ज्ञान क्या है कि संसार असत है जड़ है दुख रूप है बदलने वाला है इसका केवल सेवा के लिए अपने तन की और संसार की सेवा करके सदउपयोग कर लो इसलिए संसार है तो संसार का ज्ञान ज्ञान ज्ञान का फल क्या होगा कि संसार का ज्ञान ठीक हो गया तो उससे आसक्ति मिटेगी और परमात्मा का ज्ञान हो गया तो उससे प्रीति हो जाएगी संसार का ज्ञान हो गया तो उससे धक तेरे की होगा अभी <laughs> ललना सुंदर लगती है ललना को हूं लल्लू सुंदर लगता है लेकिन ठीक से लल्लू का नाक देखो ऊंचा करके तो क्या भरा है और ललना के होठों में क्या भरा है ललना का मानसिक रूप से चमड़ा हटाकर देखो तो क्या भरा है लल्लू का चमड़ा हटाकर देखो तो क्या भरा है अच्छी छी छी छी छी संसार का ज्ञान होगा तो उससे वैराग्य होगा और भगवान का ज्ञान होगा तो उससे भगवान ही प्रकट हो जाएंगे संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो मलिन अंगों के साथ एकाकार हुए हुए बिना मिल सके बिना मलिनता के साथ प्रीति किए बिना संसार का सुख नहीं मिल सकता मलिनता के साथ गंदगी के साथ प्रीति के बिना संसार का सुख नहीं मिल सकता होठ में क्या है मुंह में क्या है थूक है मरे हुए बैक्टीरिया है होठों में क्या चमड़ा है नाकों से गंदी श्वास आती है और शरीर के नीचे अंगों में क्या है उन मलिन अंगों के साथ एकता के बिना लवर लवरियों को क्या सुख मिल सकता है क्या ऐसे दूसरे भी देखो तो जो बनती हैं चीजें तो उनसे एकता के बिना सुख नहीं मिलता मलिन चीजों से और परमात्मा का सुख निर्मल सी प्रीति के बिना नहीं मिल सकता अगर बुद्धि थोड़ी भी हो तो समझ जाएंगे